फिर उस फरिश्ते ने उन्हें उनकी वादी के नशेब से पुकारा कि गम न कीजिए आपके रब ने आपके नीचे से एक चश्मा जारी कर दिया है